चार वेद हैं चार उपवेद हैं उपवेद में धनुर्वेद है आयुर्वेद है स्थापत्य वेद है और गांधर्व वेद है गांधर्व वेद में नृत्य की महिमा है गीत की महिमा है नृत्य की कला है गीत की कला है ये जो पिक्चरबाज नाचते हैं गाते हैं वो सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते हैं और जीवन शक्ति का ह्रास होता है डॉक्टर डायमंड ने लिखा है तेरह साल के अनुसंधान के बाद लेकिन अपना जो गांधर्व वेद में उसमें जीवन शक्ति का विकास होता है झूम शराबी झूम बराबर झूम रोक और पोप से सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते हैं और आदमी शराबी कबाबी सेक्सी और अशांत होता है लेकिन गांधर्व वेद से कामी भी रामी हो जाता है बुद्धू भी बुद्धिमान होने लगता है ऐसा है एक लड़का था तुम मेरी बात पे विश्वास करोगे ऐसा सोचकर मैं बोलता हूँ वो पहली क्लास में पहले साल दूसरे साल तीसरे साल चौथे साल नपास होते होते होते अठारह साल का हो गया जब बारहवीं बार नपास हो गया बाप तो डांटता था माँ जरा माँ तो माँ होती बेचारी नहीं बेटे बाप है डांटा है तू अब पास हो जाएगा माँ टाडस बंधाती थी जब सत्रह साल का हुआ तो जवान तो हो गया ना तो मान अपमान की चोट तो लगेगी बाप ने कहा इससे तो तुम मर जाओ मर जाओ कमीने नालायक माँ ने कहा तेरे बदले तो मेरे पेट से कोई पत्थर पैदा होता तो मुझे सुनना नहीं पड़ता मेरे गर्भ से तू क्यों आया पत्थर आता तो अच्छा था तो माँ का प्यार भी टूट गया वो लड़का निसाय हो गया और सत्रह साल पूरे हुए अठारहवा चल रहा है तो बचपन में तो सह लेते हैं जवानी में तो ज़रा चोट लगती है इसीलिए शास्त्र ने कहा कि सोलह साल की लड़की और अठारह साल का लड़का हो तो उनको बेटा बेटी समझकर नहीं चलाओ उनको अपना मित्र समझ के चलाओ सहेली बेटी नहीं है सहेली है बेटा नहीं है दोस्त है अठारह साल के बेटे को मैं मैं तो नारायण को पाँच छः साल से ही दोस्त करके चलाता था इसलिए अभी भी वो मेरे आज्ञा में रहता चलता है एयरपोर्ट पे भी उतरे तो लोगों के तो जूते चप्पल वहीं होते हैं एयरपोर्ट पे तो जूते पहन गए फिर भी लंबा पड़ गया दंडवत किया रसोई भी बना लेगा डांट भी सह लेगा मित्रवत चलाता हूँ उसको तो लड़के को डांट पड़ी बाप की माँ की भी पड़ी उसका उत्साह भंग हो गया आत्महत्या करने चला गया एक आला आदमी लड़का कहाँ गया आत्महत्या करने को पनघट पे माइया पानी भर रही थी तो अभी वो चली जाएंगी फिर मैं कूदूंगा तो दो माई गई तो तीन और आई तीन गई तो दो और आई एक और आई एक आध घंटा देखता ही रहा फिर देखा कि कोमल रस्सी पनघट से आते जाते शिला को भी घिस डालती है तो मेरी मोटी बुद्धि को कोई उपाय करूं तो मेरी मोटी बुद्धि भी तो घिस जाएगी सूक्ष्म बनेगी हथौड़ी हाँ, से ताला टूटता है लेकिन सुई से कपड़े जुड़ जाते हैं सूक्ष्म है तो दोनों लोहा है आत्महत्या का विचार बदल गया जंगल में किसी संत महात्मा के पास गया मैं मूर्ख हूँ ऐसा है अरे बोले चिंता मत करो मैं मंत्र देता हूँ और रोज मत्था टेक के तीन चार मिनट पड़ा रहना तो तेरी बुद्धि विकसित हो जाएगी शशांक आसन दीक्षा के समय देते बुद्धि खोलने का अभी जो भी बुद्धि है उससे बढ़िया हो जाएगी समझ गए तो मत्था टेक कार्यक्रम में फिर तू ध्यान कर और शिव जी वरदान दे देंगे तो बड़ा विद्वान हो जाएगा तो उसको मंत्र था ओ वापस ऐसा मंत्र था नाम शिवा तो चारण में संकल्प विकल्प कम हो गए तो श्वास की रिधम ठीक हो गई उसका ध्यान लगने लगा गुरु ने जो बताया श्वासोश्वास का जो भी गुरु ने ध्यान लगते लगते शिव जी तो नहीं आए शिव जी का गण बैल आया शिव जी का लेकिन वो अज्ञानी बैल नहीं था नंदी था अभी भी शिव मंदिर में पूजा जाता है चारा तो चुगता था लेकिन यहाँ तो रोटी खाने वाले भी बैल वो तो चारा चुगने वाला नंदी भी ज्ञानी आके कहा कि शिव जी तो समाधि में है तुम शिव जी का ध्यान करो शिव जी जब समाधि में से उठेंगे तो डमरू लेकर बजाते हैं और नाचते हैं तो देखो गंधर्व कला है गीत और नृत्य कितना उत्तम है शिव जी नाचते रोक और पोप नहीं हो नो रोक नो पोप आध्यात्मिक नृत्य आध्यात्मिक गीत आदमी को उन्नत करता है तो शिव जी डमरू लेकर नाचे तो उसको सुनाई पड़ा डमरू का आवाज तो डमरू के आवाज से उसने इंग्लिश में जिसको एबीसीडी बोलते हैं गुजराती में जिसको बारखड़ी कहते हैं क ख ग च छ ऐसे ही संस्कृत में उसने ग्रामर रच लिया अयुना रिल रिका ए ओंगा ए ऊंचा हे व रट लण यम गण नम जब गज पंडित नेहरू इस युग में हुए जवाहरलाल उन्होंने उस पाणी ने जो 18 साल का था आत्महत्या करने गया वो ध्यान से गुरु कृपा से इतना बड़ा विद्वान बना कि एम के पाठ्य पुस्तक में उन्हीं का ग्रामर पढ़ाया जाता है किसका जो 18 साल तक पहली क्लास में उसका ऐसा ग्रामर रचा पंडित नेहरू दंग रह गया कि कितनी दूरदृष्टिता है कितना सुंदर ग्रामर रचा है पानी ने मुनि हो गए तो अपनी नृत्य कला गीत कला का आध्यात्मिककरण होता है तो बड़ा आनंद उल्लास होता है जैसे सुरेश ने भी गाया हो गाना बज रहा था और दुल्हन ने दो थप्पड़ रख दी फिर अपना नया सैंडल सुनाया उसको लेकिन आध्यात्मिककरण होता तो उसकी जैसे तेरी पत्नी साध्वी ऐसी हो जाती वो तो अच्छा हुआ ना ठोक दिया तो दुल्हा की अक्ल बढ़ गई वो दुल्हा ना लायक था तू तो लायक है तेरे मोबाइल में ऐसा गाना भी नहीं हो सकता आज हम अपनी मौत का सामान ले चले आया पत्नी को लेने के लिए और गाना गा रहा है मौत का सामान दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले आज हम अपने मौत का सामान ले चले उसने ठोक दिया साधक होता तो क्या गाता सुरेश पहले निगुरा क्या गाता है निगुरे के मोबाइल में बज रहा था दिल में छुपा के प्यार का अरमान ले चले हम आज अपनी मौत दुल्हन ने क्या करा दो थप्पड़ रखी और सैंडल सुंगाया नया नया था वो भी शादी का हम्म फिर फिर साधक गया तो दिल में गुरु